अगर मन को बस में करना है तो लगे रहो लगे रहो बोला नहीं तो आलस्य आ जाए है ना आलस्य आ जाएगा प्रमाद आ जाएगा निद्रा आ जाएगी तो यदि अभय पद प्राप्त करना चाहते हो और मन को मेरा समझते हो मन को सच्चा समझते हो तो मन को काबू में करो ज्ञानी का मन काबू में कैसे होता है हाँ मन मेरे सिवाय और कुछ नहीं है और जहां जहां मन जाता है वहां वहां मैं ही हूं उसका जाना भी मैं ही हूं मन मुझसे जुदा कुछ है ही नहीं मन ढह जाएगा अपने आप ढह जाएगा हो मन जितनी सांस की जरूरत बंबई में होती है ना सांस लेने की बद्रीनाथ में उतनी सांस लेने की जरूरत नहीं होती वहां खूब बढ़िया हवा है ना थोड़ी वायु से काम चल जाता है थोड़ी सांस से वहां काम चल जाता है और यहाँ सांस ज्यादा लेनी पड़ती है और उसके साथ मोटर का प्रसाद नाक में घुसता है है ना तो <laughs> कारखाने का प्रसाद घुसता है एक बार की बात है देखो एक महात्मा की बात सुनाता हूँ है ना कितना सहिष्णु होता है महात्मा एक बार हम लोग मोटर से कहीं जा रहे हैं यहीं बम्बई में स्वामी प्रेमपुरी जी साथ थे तो बरसात का दिन दूसरी मोटर महाराज आगे बढ़ी सो अपने पहिया से बहुत सारा पानी है ना हमारी मोटर में उड़ेल दिया अब वो मुंह में पड़ा हो तो स्वामी जी का मुंह तो जरा खुला भी रहता था कभी कभी है ना मुंह में तो हम लोगों के मुंह पर भी पड़ा उनके मुंह पर भी पड़ा तो ये नहीं कि उस मोटर से बुरा माने कि मोटर वाले से बुरा माने कि कुछ है ना बोले कि वाह वाह वाह आज मोटर का चरण अमृत मिला तो <laughs> देखो मन प्रसन्न करने की है ना और नहीं दूसरा हो तो फिर आगे देखा मैंने दूसरी बार देखा तो ड्राइवर ने कहा अच्छा ये हमारे ऊपर पानी डाल के गए हैं तो हम अब आगे बढ़ा के इनके ऊपर पानी डालेंगे है ना तो नारायण ये जो मनी राम है ये तुम्हें भय की ओर ले जाएंगे अगर इनको काबू में नहीं रखोगे तो या तो इनको मर जाने दो भस्म हो जाने दो अपने स्वरूप से अभिन्न हो जाने दो है ना जहां जहां जाए वहीं वहीं समाधि रहे जैसे रहे वैसे ही थे पर यह बात तो तब होगी जब सृष्टि में जो महत्व बुद्धि है वो चली जाएगी अच्छा जब नहीं जाती है सृष्टि का बाध नहीं होता मन का बाध नहीं होता तो उसको काबू में करना चाहिए तो यदि मन को काबू में करोगे तभी निर्भय पद की प्राप्ति होगी दुख का क्षय होगा प्रबोध होगा और अक्षय शांति होगी देखो कितनी बात बताते हैं एक तो आदमी के मन में भय की कल्पना हो जाती है ये मन का सबसे कमजोर रूप यही है क्या भय की कल्पना है बोले हम बैठे थे जंगल में एक आदमी दूर से आता दिखाई पड़ा तो ख्याल हुआ कि ये डाकू है तो अब तो आके हमको लूटेगा ये मन का कमजोर रूप है हो हाँ। क्या कल्पना हुई कि शायद महात्मा कोई जंगल में तपस्या करते हों और वो इसी रास्ते आ रहे हों आज हो भाग्य है कि हमको जंगल में महात्मा के दर्शन हो जाएंगे हैं हाँ। अब देखो एक रूप तो ये हुआ कि डाकू आ रहा है एक रूप ये हुआ कि महात्मा आ रहा है है ना और एक रूप हुआ अरे होगा कोई इधर से उधर चला जाएगा हमारी उसकी क्या दुश्मनी है न राग न द्वेष तो मन कैसी कल्पना करता है इससे मन का पता चलता है मन राग में फंसा है कि मन द्वेष में फंसा है हाँ। बौद्ध धर्म में मनोवृत्तियों की गिनती करी हुई है हो तो कोई नौ हजार के लगभग मन की विपस्यनाओं की गिनती है मन की विपस्यना है ना तो वो चोर आ रहा डाकू आ रहा है ये भी विपस्यना है ये महात्मा आ रहा है कि ये भी विपस्यना है है ना तो वो भगवान हमको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं कि ये भी विपस्यना है हाँ। अरे होगा को ही छोड़ो क्या ख्याल करने की जरूरत है नारायण तो ये मन ही भय देता है मनुष्य को कहे और ईश्वर किसी किसी पर कृपा करके किसी स्त्री को त्याग ब्रह्मचर्य संन्यास संयम से रहने का अवसर देता है तो जो उसको पहचान लेगा वो सुखी रहेगा और जो उसको नहीं पहचानेगा सो वो दुखी रहेगा तो बहुत करके दुख की कल्पना मन से ही हुई ना मन अच्छा मन चंगा तो कठौती में गंगा मोटरें चलती हैं उस समय मोटर भी नहीं थे इक्के भी नहीं थे तो अपन पैदल स्टेशन पर आते थे घड़ी भी नहीं है ना तो चलते समय सोच लेते थे कि गाड़ी मिल जाएगी तब तो बनारस चले जाएंगे और नहीं मिलेगी तो वो तो स्टेशन के पास अमुक गांव है वहां जाएंगे और इनसे उनसे मिलेंगे ये ये काम करेंगे उसके बाद बनारस जाएंगे दोनों हालत के लिए तैयार होकर जाते थे दुखी संसार में कौन होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे मन के मुताबिक ही होगा है ना तो बोले हमारा बेटा हमारी बात मानेगा अरे भाई ये भी तो सोचो कि बेटे के भी मन है शायद न माने हैं मान ही ले ये निश्चय क्यों करते हो बोले हमारे पति तो हमारी जिद जरूर मान लेंगे बोले आखिर पति के भी तो मन है बोले पति ने कहा कि पत्नी को तो हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा अरे उसके भी तो मन है तुम अपने ही मन को क्यों प्रधानता देते हो है ना तो अपने मन को प्रधानता देना ये दुख को मोल लेना है हो है ना हमारे हरि बाबा जी महाराज बहुत बढ़िया बात बताते हैं ऐसे भी याद आ गई कल उनकी यहां से चिट्ठी आई थी कि अब की वो ठहरावेंगे तो बगीचे में ठहरेंगे ऐसा हाँ क्योंकि चढ़ना उतरना जो है ना हार्ट अटैक होने से अपने कमरे में जाना आना उनको कठिन पड़ेगा तो वो कहते हैं देखो व्यवहार की बात है बिल्कुल अगर तुम किसी के मन को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो डंडा लेके मत कहो कि तुम अपना मन हमारे मन से मिला दो ऐसे मत बोलो हाँ, रो रो के मन मिलाओगे तो कै दिन मिलेगा है? और ललचा ललचा के मन मिलाओगे तो कै दिन मिलाओगे न तो हमेशा ललचा के मन मिला सकते न तो हमेशा डंडा लेके मन मिला सकते वो कहते हैं कि अगर किसी का मन तुम चाहते हो तो पहले अपने मन को उसके मन के मुताबिक कर दो अप, उसके मन को मिलाना मिलाना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ये तो उसके हाथ में है और तुम्हारा अपना मन उसके मन के साथ मिलाना ये तुम्हारे हाथ में है तो पहले तुम अपने ही मन उसके साथ मिला दो और जब तुम्हारा मन और उसका मन दोनों दोस्त हो जाएं और खूब घुल मिल जाएं और एक साथ रहने लगे हैं है ना तो अपने मन को धीरे से जरा अपनी ओर खींचना तो देखना उसका मन भी आ जाएगा वो भी झुक जाएगा है ना जैसे तुमने अपना मन उसको दिया वैसे वो भी अपना मन तुम्हें देगा लेकिन पहले मन में मेल तो कर लो मिला तो लो तो ये संसार में जितना दुख है हाँ। दुख होना ये हाँ, माफ करना हमको तो बड़ी बात ना रहे है ना तो कभी कठोर बात भी कहनी पड़ेगी ऐसे कहा महात्माओं ने प्रज्ञापराध शह दुख मिति यथ जिसको तुम दुनिया में दुख कहते हो वो तुम्हारी समझ का कसूर है है ना तुम्हारी समझ का कसूर है उसने बड़े प्रेम से कहा कि तुम हमारे साथ चलो वहां हैं और तुमने कहा कि तुम हमारे मन की कोई कीमत ही नहीं करते हो अरे वो तो मन की नहीं समूचे तुम्हारे कीमत तुम्हारी कीमत कर रहा है तुम्हारी समझ में बात नहीं आई है ना जब किसी ने ये कहा है ना कि तुम हमारे मन के मुताबिक चलो तो तुमने कहा तुम हमारे मन की कीमत नहीं करते तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो तो हमारे पाँव की कीमत कर रहा है हमारे हाथ की कीमत कर रहा है हमारे समूचे शरीर की कीमत कर रहा है हैं? ये क्यों नहीं सोचते तो समझ में दोष होने से प्रेम में अप्रेम की कल्पना हो जाती है और शांति में अशांति की कल्पना हो जाती है हित में अहित की कल्पना हो जाती है है ना जब हम किसी को रोकते हैं कि तो तुम वहां मत जाना और नारायण क्या हम उससे दुश्मनी करते हैं दुनिया में हम कालवा देवी रोड पर चलने वालों को कहा कहते हैं कि तुम कहा मत जाना और तुम कहा मत जाना है ना यहाँ जाना वहां मत जाना ये बात हम कालवा देवी वालों को कहा कहते हैं है ना और तो जिसके ऊपर बहुत ममता है बहुत वात्सल्य है उसी को कहते हैं ना तो मन पर भी ममता रखो वात्सल्य रखो बोला नारायण अपने मन से पूर्ण करने पर अभिमान बढ़ता है और आदमी परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है और दूसरे के मन से कभी गलत भी काम करना पड़ जाए है ना मन को दबाना भी पड़ जाए है ना तो उसमें भी मन अपने काबू में आता है मन को अपने काबू में करके हमने वो काम कर लिया तो ये परमार्थ का दृष्टिकोण संसारी दृष्टिकोण से बिल्कुल उल्टा होता है तो मन बस में करने से दुख का क्षय होता है मन को बस में करने से अभय पद की प्राप्ति होती है मन को बस में करने से दुख का क्षय होता है बोले बाबा हमको तो ज्ञान चाहिए तो ठीक है ज्ञान चाहिए बहुत बढ़िया ज्ञान का तो नियम ही है कि घड़ी देखेगा तो रूमाल नहीं देख पाएगा और रूमाल देखेगा तो घड़ी नहीं देख पाएगा ज्ञान के लिए मन की एकाग्रता साधन है कोई बाधन तो नहीं है, है? प्रबोधश्च जिस चीज में तुम मन लगा दोगे संयम करोगे उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा तुमको तो शास्त्र में ऐसे लिखा है किस चीज को कैसे जानना भुवन ज्ञानम सूर्य संजमात सूरज में अपना मन लगा दो तो सूरज की किरणें कहाँ कहाँ जाती हैं और उनमें क्या क्या तारतम्य है इसका बोध हो जाएगा आंख नहीं लगाना हो मन लगाना भुवन ज्ञानम सूर्य संजमात प्रत्यय परचित ज्ञानम अपनी मनोवृत्ति का अध्ययन करो तो दूसरे की मनोवृत्ति का भी पता चल जाएगा ज्ञान हो जाएगा संयम करने से मन धारणा ध्यान और समाधि लगाने से है ना जो ज्ञान चाहो सो हो जाएगा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा नारायण अपने मन को परिग्रह से मुक्त करो परिग्रह से मुक्त करो माने जन्म लेने के बाद है ना जो जो चीज तुमने स्वीकार की है उनको छोड़ो उनकी ओर से मन हटा लो अच्छा फिर माँ के पेट में जो जो चीज पकड़ी है उनमें से भी मन हटा लो और फिर बाप के पेट में जो जो चीज पकड़ी है कि ये मैं तो उनमें से भी मन हटा लो तो देखो तुमको पता लग जाएगा कि इस मनुष्य शरीर में तुम क्यों आए हो कहा से आए हो ये पूर्व जन्म के ज्ञान की प्रक्रिया बताई तो मन की एकाग्रता जो संयम इसको योग शास्त्र में संयम बोलते हैं हो त्रय में एकत्र संयम एक ही वस्तु में धारणा करो माने उस वस्तु देश को छोड़ करके अन्यत्र मन न जाए है ना और वस्तु में मन को प्रविष्ट करो इसका नाम ध्यान हुआ है और वस्तु और मन को एक कर दो इसका नाम समाधि हुआ ये देश की प्रधानता से धारणा और द्रव्य की प्रधानता से ध्यान है ना और दोनों के ऐक्य की दृष्टि से समाधि ये ग्राह्य समापत्ति ग्रहण समापत्ति ग्रहित्री समापत्ति ये अनेक इसके भेद होते हैं तो आपको यदि नारायण सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होए तो मन को एकाग्र करो काट दो दुनिया और मन को लगाओ पर ब्रह्म परमात्मा कैसा होता है तो देखो ज्ञान में भी ये मन की एकाग्रता मदद करेगी अरे बोले अक्षया शांति रे बचो बोले भाई हमको तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख हैं अरे वो समाधि नहीं जो थोड़ी देर लगी और टूट गई और वो स्वर्ग नहीं जो होटल की तरह मिलता है जितना पैसा आप जमा कर दो उतने दिन खा लो पी लो है ना नारायण सो लो रह लो जो सुख चाहिए सो ले लो है ना अब पार्क में घूम लो विमान में उड़ लो है ना अप्सरा वहां मिल जाए इतने दिन रहो कितना का जितने दिन रुपया जमा किया है जितने दिन का ये होटल हुआ ये स्वर्ग हुआ हो है ना तो वो तो थोड़े दिन का मामला है छीणे पुण्य मरते लोकम बिसंते और बेग से समाधि लगाई महाराज और समाधि लगाई तो जितना बेग होगा मन में जितनी दृढ़ता होगी उतने दिन रहेगी और किसी ने कृपा करके अगर अपने साथ ले लिया तो चलो हमारे साथ घुमा ले आवे तुमको है ना तो कई घंटे तुम उसकी मोटर में रहोगे है? कितने दिन उसके घर के मेहमान बनोगे है ना कृपा के अवलंब से जीवन हाँ। कितने दिन तक चलेगा एक धनी की कृपा लो देवता की कृपा लो हाँ। तो ये सब नहीं चलता अक्षय शांति अक्षय शांति माने काल परिच्छेद से रहित शांति कैसे मिलेगी बोले मन को शांत करो मन को शांत करने से मिलेगी मन की शांति की बड़ी महिमा बोले भाई यदि साधन से शांति सिद्ध होगी तो अक्षय नहीं है? लो और बिना साधन के ही यदि शांति अपना स्वरूप है स्वतः सिद्ध है तो साधन व्यर्थ साधन से सिद्ध होए तो अक्षय नहीं और बिना साधन के सिद्ध है स्वतः सिद्ध है तो साधन व्यर्थ बोले अरे यही स्वतः सिद्ध जानने के लिए है ना साधन की जरूरत है इसी स्वतः सिद्धता के ज्ञान में जो प्रतिबंध है उसकी निवृत्ति के लिए साधन की जरूरत है लो तो जब तक अपना मन चंचल रहेगा तब तक न तो अभय पद की प्राप्ति होगी न तो दुख का क्षय होगा और न तो तत्व ज्ञान होगा और न तो अक्षया शांति होगी तो जो हीन दृष्टि में और मध्यम दृष्टि में हैं माने जो मन को मैं और मेरा मानते हैं और सच्चा मानते हैं जो इंद्रियों को मैं मेरा और सच्चा मानते हैं वे यदि मन को काबू नहीं करेंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी तो बोले आओ भाई है ना आओ मन को काबू में करें क्या क्या चाहिए मन को काबू में करने के लिए बोले एक तो चाहिए अदम्य उत्साह करके उठेंगे बोला वज्र गिरे धरती फटे शरीर ही बैठे बैठे खाक हो जाए लेकिन परमात्मा को प्राप्त किए बिना रुकेंगे नहीं अदम में उत्साह चाहिए और दूसरा चाहिए जुक्ति का ज्ञान किस जुक्ति से मन बस में होता है और तीसरा चाहिए वैराग्य और चौथी चाहिए ब्रह्माकार वृत्ति और जो चार प्रकार के प्रतिबंध हैं उनका निवारण तो अब इन सब की चर्चा कल करेंगे सर तो। अच्छा मनोनिग्रह की बात छोड़ेंगे को इसके संबंध में कुछ ब्रह्मज्ञानी की बात कुछ जिज्ञासु की बात कुछ योगी की बात है ना और थोड़ी व्यवहार की बात पहले ब्रह्मज्ञानी की बात कर रहे थे ब्रह्मज्ञानी एक शरीर को या एक शरीर में रहने वाले मन को अपना शरीर और अपना मन नहीं जानता है नहीं मानता है और सब शरीर को और सब शरीरों में रहने वाले मन को भी अपना नहीं मानता नहीं जानता है तो उसके लिए मन संबंधी कोई कर्तव्य नहीं होता है क्योंकि न तो मन वह है न मन उसका है और न मन सच्चा है अरे फुर ले भाई जैसे तेरी मौज हो चाहे जहां फुर ले यहां फुर ले वहां फुर ले कहीं फुर ले ईश्वर में फुर ले जीव में फुर ले है ना आ... हाँ। एक स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में अध्यक्ष चाहे जैसे फुर ले न पुरे अच्छा अब दूसरी बात सुना यदि जिज्ञासु अपने श्रवण मनन ध्यान जन्य ज्ञान को दृढ़ करना चाहे तो वहीं से सोचे मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं न मुझ में माया है न अविद्या माया अविद्या दोनों मुझ में है ही नहीं तो न देश न काल न वस्तु प्रकृति नहीं और सत्व रज तम तीनों गुण भी मुझ में नहीं और महत तत्व नहीं अहंकार तत्व नहीं बोला और फिर सात्विक राजस तामस तन्मात्राएं नहीं इसलिए न वृत्तियां न इंद्रिया न प्राण और न तो द्रव्य फिर मुझ में पंचभूत कहा और पंचभूत नहीं होने से शरीर कहा है पंचभूत नहीं होने से ब्रह्मांड कहा और ब्रह्मांड न होने से पृथ्वी कहा और पृथ्वी न होने से शरीर कहा इसलिए मुझ अद्वितीय ब्रह्म तत्व में दूसरी कोई वस्तु नहीं है माया अविद्या मायोपाधिक ईश्वर अविद्योपाधिक जीव ये सब उपाधिक अवच्छेद और अंतकरण में प्रतिबिंबित आभास ये सब अपने अंदर कुछ नहीं इसको बाधक प्रक्रिया बोलते हैं महावाक्य के द्वारा अपने को ब्रह्म निश्चय करके और फिर माया अविद्या सब ऊपर से बाधित करते आना हो तो है नहीं कुछ इसको बाधक प्रक्रिया बोलते हैं ये जिज्ञासु के लिए है बोला तो और एक लय प्रक्रिया है लय प्रक्रिया क्या है ये जो अपना शरीर दिखता है इसमें अपना है कुछ नहीं हो कुछ मिट्टी का है कुछ पानी का है कुछ आग का है कुछ हवा का है कुछ आसमान का है कुछ समष्टि मन का है कुछ कर्म का है कुछ संस्कार का है कुछ कर्ता का है कुछ भोक्ता का है अपना तो कुछ है ही नहीं तो इस शरीर को पंचभूत से एक कर दो मिट्टी मिट्टी में पानी पानी में आग आग में और इंद्रियां कर्म कर्म को राजसिक में डालो और इंद्रिय वृत्तियों को मनोवृत्तियों को सात्विक में डालो तो तन्मात्रा सात्विक राजस तामस सब अहंकार है और अहंकार महत्त्व है और देश काल वस्तु सब महत्त्व में है वर्ष संवत्सर मनवंतर युग कल सब हिरण गर्भ देश पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गोलोक वैकुंठ सब ब्रह्मलोक आम आए तो सब देश सब काल सब वस्तु जो है वो समष्टि बुद्धियात्मक है और समष्टि बुद्धि अव्याकृतात्मा बीजात्मा से प्रकट हुई है तो अव्याकृतात्मा से भिन्न महत्त्व नहीं है और अव्याकृतात्मा जो है वो व्यवहार की दृष्टि से परमात्मा में कल्पित है तो अब देखो शरीर आदि जो कार्य वर्ग है क्लिप्त कल्पित वो पंचभूत में सब सूर्य चंद्रमा ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र तारे हाँ। और पंचभूत मनस तत्व में मनस तत्व अहम तत्व में अहम तत्व महत तत्व में महत तत्व अव्याकृत में और अव्याकृत को परमात्मा में हवन कर दो अब रह गया एक परमात्मा इस प्रकार एक परमात्मा हो करके बैठ जाना है ना वो देखो पहले ब्रह्मज्ञानी की बात थी फिर एक नंबर जिज्ञासु की बात थी फिर दो नंबर जिज्ञासु की बात थी हो बाधक प्रक्रिया और लय प्रक्रिया अच्छा बोले भाई ऐसे ना बने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांडात्मक कार्य कारणात्मक जो दृश्य है ये तो जड़ है विकारी है अनित्य है दृश्य है और मैं इसका साक्षी हूं अब इसमें देखो फर्क पहले से फर्क क्या पड़ा ये आपके ध्यान में आना चाहिए और वो बड़ा भारी फर्क है पहले में जीव ईश्वर और सृष्टि सबका समन्वय अपने स्वरूपभूत ब्रह्म में हो गया बाद से या लय से अब की क्या हुआ कि जड़ विकारी दृश्य जो है वो अलग छूट गया और हम उसको छोड़ करके साक्षी हो गए इसमें द्वैत की निवृत्ति तो नहीं हुई परंतु फायदा ये हुआ कि हजारों तत्व न रह करके केवल दो रह गए एक साक्षी और एक उसका साक्ष्य दृश्य है ना तो हजार में हजार को दो में ले जाने की ये प्रक्रिया है अब बोले भाई देह में ऐसा मैं बैठ गया कि ये तो उठता ही नहीं है ये तो सब सुनते हैं सब समझते हैं पर देह में से मैं भाव नहीं उठता है गीत चार कोस ऊपर चला गया आसमान में लेकिन वहां से जब नीचे नजर पड़ी तो उसको मांस खंड दिखाई पड़ा और फिर उसी पर उतर आया तो ये हम मन से बुद्धि से है ना चित्त और चैत्य से रहित जिसमें चित्त नहीं और चित्त का विषय है ऐसी वस्तु का चिंतन करते हैं पर फिर जहां से कहा तो मूल बात यही पकड़नी चाहिए कि देह में से अहम को हटाना तो इसको ऐसे करो कि देह को मिट्टी में मिला दो और मिट्टी को पानी में और हलराने दो समुद्र को बोला हाँ, ये आप ये कारण वारी लहरावे हलराए गांव में हलराए बोलते हैं वो हाँ लहराए को हलराए बोलते हैं देखो क्या है ना पानी हलरा रहा है तो सूरज चंद्रमा की ज्योति प्रतिबिंबित हो रही है विशाल आकाश दिखाई पड़ रहा है धरती दिखाई पड़ रही है धरती नहीं दिखाई पड़ती है केवल समुद्र ही समुद्र जल ही जल कल केवल जल ही जल दिखाई पड़े तो न शरीर न मकान न नगर न धरती इनका एक बार इनमें जो अभिनिवेश हो गया है ना कि यही सच्चे यही सच्चे यही सच्चे इनकी ओर से मन तोड़ना चाहिए अच्छा देखो ये भी ना हो सके तो शरीर बैठा है आसन पर और मैं बैठा हूं छत पर अलग करो इसको मैं दृष्टा हूं ये दृश्य है क्या रखा है इस लोटे में इस घड़े में ये खाना पीना तो इसको मांजने की प्रणाली है और जैसे लोटे में कंकर डाल के माटी डाल के पत्थर डाल के पानी डाल के हिलाते हैं तो मच जाता है चिकना हो जाता है ऐसे महाराज दाल भात रोटी साग नमक खटाई सब डाल करके है ना इसको हिलाते हैं तो साफ हो जाता है हाँ ये तो घट है घट घड़ा है हाँ। अच्छा देखो बैठो भजन करने तो नाभि में एक स्वयं प्रकाश त्रिकोण अग्नि चक्र है उसमें ज्योतिर्मय चिन्मय अग्नि प्रज्वलित है बोले अविद्याम जुहोमि स्वाहा अहंताम जुहोमि स्वाहा है रागम जुहोमि स्वाहा द्वेशम जुहोमि स्वाहा अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा हवन करके अविद्या अस्मिता राग द्वेश से विमुक्त होकर के कहते हैं शंकराचार्य भगवान ने अट्ठाईस आहुति लिखी हैं मैंने आपको पांच संक्षेप में करके बता दिया साधन भजन है हम अपनी अविद्या का होम करते हैं इसमें देवता का नाम नहीं है हविष्य का नाम है वो इंद्राय स्वाहा नहीं है अविद्याम जो हो में स्वाहा इंद्र के लिए नहीं हम तो ये अपने अविष्य का ही हवन करते हैं लो अग्नि देवता को ज्ञान अग्नि को हवन करते हैं माने हमारी अविद्या ज्ञानाग्नि में जल गई हमारा अहंकार ज्ञानाग्नि में जल गया है ना राग द्वेष है ज्ञानाग्नि में जल गए अभिनिवेश ज्ञानाग्नि में जल गया ऐसे अच्छा लो लेट गए लेट गए और शरीर में छह मंडल की कल्पना के पांव के नाखून से लेकर के और गुदा पर्यंत पृथ्वी मंडल मूत्रेन्द्रिय में जल मंडल नाभि में अग्निमंडल और हृदय पर्यंत वायुमंडल उसके बाद आकाश मंडल कंठ तक और कंठ से ऊपर मनोमंडल हो हाँ। और मनोमंडल में इंद्रियां रहते हैं तो लेट के विचार किया कि पृथ्वी मंडल जल मंडल में जल मंडल अग्निमंडल में अग्निमंडल वायुमंडल में वायुमंडल आकाश मंडल में आकाश मंडल मनोमंडल में आ गया है ना और मनोमंडल में इंद्रिय मंडल छोड़ करके जो आज्ञा चक्र से नीचे है ऊपर के बुद्धि मंडल में हम प्रविष्ट हुए और वहां सहस्रार पर बैठे हुए जो हमारे गुरु जी हैं जो अपने को ब्रह्म के सिवाय और कुछ जानते ही नहीं जिनके लिए ये प्रपंच मिथ्या है और ब्रह्म के सिवाय और कुछ जानते नहीं उनमें हम समा गए और जैसे ब्रह्म हमारे गुरु जी वैसे ब्रह्म हम गुरु और चेला दोनों एक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म न गुरु न चेला केवल ब्रह्म ही ब्रह्म सो गए लेकिन जब सवेरे उठे है ना तब पर ब्रह्म परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट हुआ गुरु से मैं मन प्रकट हुआ फिर मन से आकाश प्रकट हुआ आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी करके तब उठना चाहिए हे भगवान अब आपको मनोनिग्रह की युक्ति अब प्रारंभ करता हूं बोला ये सब तो गप फांके अच्छा एक बात आजकल के मनोवैज्ञानिक जैसा कहते हैं उसके बारे में भी आपको सुनाता हूं आजकल के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन के निग्रह या निरोध की कोई आवश्यकता नहीं है मन की मांग पूरी करते जाओ उसको रोकोगे तो नस में तनाव पैदा होगा न तो दिमाग खराब होगा आजकल के मनोविज्ञान में खास करके मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वो महाराज कहते हैं कि सब काम मूलक ही है सारा का सारा जीवन काम मूलक है एक कोई फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो वो कहते हैं कि माँ जब बच्चे के शरीर पर थापी मारती है पीठ पर चूकड़ पर थपथपाती है और वो खुश होता है और सो जाता है तो इसमें भी उसको जो स्पर्श का सुख है वो काम सुख ही है वे यहां तक कहते हैं कि माता जो दूध पिलाती है बच्चे को छाती से सटा करके और माँ को मजा आता है और बच्चे को मजा आता है ये भी काम सुख ही है वैसे तो कहो तो सारी सृष्टि काम ही है वो बात है ना दूसरी है लेकिन मनोवृत्ति में विभाग करना पड़ता है मनोवृत्ति में विभाग किए बिना मर्यादा जो है समाज की ये स्त्री है ये पुरुष है है ना ये बाप है ये बेटा है ये नेता है ये नीत है है ना ये मर्यादा जो समाज की है ना वो भेद के बिना चल नहीं सकते हाँ। एक बार की बात है हमको किसी महात्मा ने समझाया कि अगर कोई कहे कि तुम मन को खुला छोड़ दो तो जो जो मन कहेगा सो सो करोगे अरे भाई एक हद पर तो भले मानुस हो तो तुम ही अपने मन को रोक लोगे कि नहीं नहीं अब ये काम नहीं करना चाहिए और भले मानुस नहीं हो तो माँ बाप समाज रोक लेगा कि ये काम नहीं करना चाहिए और अगर माँ बाप समाज भी नहीं रोके तो पुलिस रोक देगी कि ये काम मत करो कानून रोक देगा बोले हम सब कुछ खा सकते हैं जो गले के भीतर जाए क्योंकि गल बिलाधस संजोग रूप जो व्यापार है उसको भोजन कहते हैं गले के नीचे किसी चीज को उतारना तो इसका नाम भोजन और बोले भाई तुम मांस खा सकते हो तो हजारों आदमी खाते हैं शराब पी सकते हो हजारों आदमी पीते हैं बड़े बुद्धिमान लोग क्या बात है अच्छा पिष्ठा खा सकते हो बोले राम राम इसका नाम मत लेना है ना इसका नाम नहीं लेना गंदी बात है तो क्यों यहां से तुम अपने मन को क्यों रोकते हो एक मर्यादा तो बनानी पड़ी ना है ना चाहे जो स्त्री जिस पुरुष से और चाहे जो पुरुष जिस स्त्री से मिल सकता है मन को नहीं रोकना चाहिए है ना ये सिद्धांत मान लो है ना अच्छा तो बाप बेटी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई बहन को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना एक बात देखो एक है ना माँ बेटे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो एक मर्यादा बनानी पड़ेगी ना बिना मर्यादा के मानव जीवन नहीं होता है बिना मर्यादा के पशु जीवन भी नहीं होता है है ना बिना पशुओं की भी मर्यादा होती है वो प्रकृति ने उनको मर्यादा दी है सिंह के जीवन की मर्यादा दूसरी है है ना कुत्ते के जीवन की मर्यादा दूसरी है गाय बैल भैंस घोड़े के जीवन की मर्यादा दूसरी है हम लोग देखते हैं गाय को घास करती है ना ईश्वर कृपा से हमको बचपन में है ना चरवाहों के साथ भी बैठने का मौका मिला है वो गडरियों के साथ है ना भैंस चराने वालों के साथ गाय चराने वालों के साथ गाय घास चरती होती है और जब कहीं गाय का मूत पड़ा हुआ मिल जाता है या गाय का गोबर पड़ा हुआ मिल जाता है घास पर भूसे पर भूस पर है ना तो सूंघ के छोड़ देती है नहीं खाती है आखिर उनके जीवन में भी तो एक मर्यादा है ना तो कहने का अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो अपनी मनोवृत्ति को निगृहित नहीं करेगा है ना उसका जीवन तो मनुष्य जीवन तो न्यारा पशु जीवन भी नहीं रहेगा इसलिए ये जो बच्चे हैं बेचारे आजकल के ना एक जगह हम गए हो तो बड़े आदमी का घर था उनके आगे कुछ मेहमान वो खुद करोड़पति आदमी और मेहमान भी आए तो करोड़पति के बच्चे अब वो महाराज आंगन में लाके जो लान था ना घास का एक रेडियो रख दिया बीच में अब रेडियो तो बजे और कोई ऐसे हाथ करे कोई ऐसे हाथ करे कोई यो उछले कोई यो उछले है ना बीस बीस पच्चीस पच्चीस बरस की लड़की है ना और लड़के है ना भाई बहन सब मिलके महाराज वो छलांग भरे है ना न उनको अपने शरीर का ख्याल न अपने मन का ख्याल न मर्यादा का ख्याल है ना अब जो जो मन में आवे सोई सोई करो ये तो कोई बात नहीं है एक न एक सीमा अपने जीवन में ऐसी रखनी पड़ेगी है ना जहाँ ब्रह्मचारी की मर्यादा रहेगी जहाँ गृहस्थ की मर्यादा रहेगी जहाँ बानप्रस्थ की मर्यादा रहेगी जहाँ सन्यासी की मर्यादा रहेगी बिना मर्यादा का तो कोई जीवन होता ही नहीं हमको एक बार करपात्री जी ने कहा है ना करपात्री जी ने कहा कि जब तुमको ये मना करना ही पड़ेगा कि हम प्याज नहीं खाएंगे हम लहसुन नहीं खाएंगे है ना हम मांस का संबंध होगा वो नहीं खाएंगे है ना जब ऐसे तुमको मना करना ही पड़ेगा बिना मना किए तो तुम रह नहीं सकते है ना तो ये भी मना क्यों नहीं कर देते कि हम अमुक अमुक अमुक का नहीं खाएंगे ऐसा हो उनके तर्क में बल है ना उनके तर्क में शक्ति है अगर बिल्कुल न मना करो कि चाहे जो कुछ चाहे जिसका चाहे जैसे खाएंगे तब तो हम मान सकते हैं कि मन में मर्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारे मन में तो बड़ी मर्यादा है हम ये नहीं खाएंगे हम इनका नहीं खाएंगे हम उनका नहीं खाएंगे तो उसी को हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ऐसे बोले है ना तो गोविंद तो आपको ये बात बताते हैं कि किसी न किसी स्तर पर मनुष्य को व्यावहारिक जीवन में मन को रोकना पड़ता है परमार्थ की दृष्टि से है ना मन का अस्तित्व ही नहीं है बाह्य वही आभ्यंतर वही आत्मा वही अनात्मा वही है ना और जहां अस्तित्व नहीं है वहां निग्रह का प्रश्न नहीं है हाँ, और जहां व्यवहार है नारायण वहां तो मनसो निग्रह यम अभयम सर्वयोगिनाम बिना मन को काबू में किए अभय नहीं हो सकते तुम्हारा मन तुमको जंगल में ले जाएगा बोला तुम्हारा मन तुमको छत पर से नीचे गिरा देगा तुम्हारा मन तुमको कुएं में गिरा देगा है ना देखो लोगों के मन में जब मूड बिगड़ता है ना तो आता है कि छत से कूद पड़े हैं मूड बिगड़ता है तो मन में आता है कि कुएं में कूद पड़े हैं है ना ये मन ही तो कराता है ना जहर खा लेने के बाद फिर पछताते हैं कि हाय हाय मैंने क्या गलती की तो काम कर लेने के बाद तो पछताने से अब पछताए होश का चिड़िया चुप गई खेत तो पहले से ही अपने को सावधान रखना चाहिए है ना ये बिल्कुल मन को नहीं रोकना ये बात बिल्कुल तर्क से युक्ति से अनुभव से जीवन से है ना हाँ, हाँ। सबसे विरुद्ध है है ना इसमें नारायण मार्क्स की भी असहमति नहीं है कि समाज में एक मर्यादा रहनी चाहिए वो कहते हैं कि वो युग आने में बहुत विलंब है अभी जब समाज अराजक होगा कोई सास्ता नहीं होगा कोई शासन नहीं होगा कोई शिष्य नहीं होगा है ना वो युग आने में बड़ी देर है ऐसा बोलते हैं वो शंकराचार्य कहते हैं कि वो युग सबके लिए नहीं है जिसमें सास्ता नहीं शासन नहीं शिष्य नहीं न शास्त्रा न शिष्या है न शास्त्रम है ना